तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे सूलों मुदरों खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्र में भयंकर डंडों से घायल करके जोर-जोर से डांटते हैं कभी-कभी तो एक-एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं कहीं भयभीत होते कहीं त्रास पाते कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीव को उस मार्ग से जाना पड़ता है यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से बिहवल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं जीव हिंसक मनुष्यों के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी के मेदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है वे वेदना से पीड़ित हो जोर-जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं शक्ति भिंदपाल खड़ग तोमर वाण और तीखी नोक वाले सूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है कुत्ते बाघ भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं सुअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग में जाते हैं जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं जो दुरात्मा पापाचारी अन्न वस्त्र सोने घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं उन्हें सूखे का हाथ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती और नाक कान काट लिए जाते हैं फिर उनके शरीर में पीब और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं इस दशा में भी क्रोध से भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है उसे रौरव जीवों को रुलाने वाला कहा गया है वह ऊंची नीची भूमियों से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है वहां आग की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती हैं वह मार्ग कंटकों से भरा है शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में लाए जाते हैं यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं वह पुरी बहुत विशाल है उसका विस्तार लाख योजन का है वह चौकोर बताई जाती है उसके चार सुंदर दरवाजे हैं उसकी चार दीवारी सोने की बनी है जो दस हजार योजन ऊंची है यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं हीरे नीलम पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं उस द्वार से देवताओं ऋषियों योगियों गंधर्वों सिद्धों यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है उस नगर का उत्तर द्वार घंटा छत्र चवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है गीत मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं वहां महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं जिन्होंने गर्मी में दूसरे को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है जो थके मादे मनुष्य की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं जो दाता सूर और माता-पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति-भांति के रत्नों से विभूषित है विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हैं देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं वहां भेरी मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं जिन्होंने पांचाग्नि का सेवन किया है जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अपना कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं और जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है वह संपूर्ण जीव के मन में भय उपजाने वाला है वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है सदा अंधेरा छाया रहता है उस द्वार पर तीखे सींग कांटे बिच्छू सांप वज्रमुख कीट भेड़िए व्याघ्र ऋक्ष सिंह गीदड़ कुत्ते बिलाव और गिद्ध उपस्थित रहते हैं उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है जो ब्राह्मण गौ बालक वृद्ध रोगी शरणागत विश्वासी स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं दूसरे के धन का अपहरण करते हैं धरोहर हड़प लेते हैं दूसरे को जहर देते हैं और उनके घरों में आग लगाते हैं पराई भूमि गृह शैया वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं सदा झूठ बोलते हैं ग्राम नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं झूठी गवाही देते कन्या बेचते अभक्ष भक्षण करते पुत्री और पुत्र वधु के साथ समागम करते माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं वे सब दक्षिण द्वार के द्वारा यमपुरी में प्रवेश करते हैं यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन मुनियों ने पूछा तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं यह हम सुनना चाहते हैं आप विस्तार पूर्वक बतलाइए व्यास जी बोले मुनिवरों दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है मैं उसका वर्णन करता हूँ वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द होते रहते हैं वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं तब यमदूत उन्हें साकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छोरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं कहीं-कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे-ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है कहीं-कहीं लोहे की सुई के समान कीले गड़ी होती हैं कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं-कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है कहीं दुर्गम गर्त कहीं चिकने ढेले कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है कहीं तपी हुई शिला है